गीता तत्व चिंतन आत्मा का आश्चर्य में आयाम परस्पर विरोधों का परिहार वैतर्किक प्रणाली अब उस अवस्था को व्यक्त करने के लिए ये जो दो प्रकार चुने गए वे दोनों परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं यही बात ईसावास्योपनिषद के उपर्युक्त दो मंत्रों में दिखाई देती है इसे तर्कशास्त्र में वैतर्किक प्रणाली प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स कहकर पुकारा है अब कोई बात सूक्ष्म हो और इंद्रिय ग्राह्य न हो तो उसको समझाने के लिए इसी प्रणाली का सहारा लिया जाता है और यह कठिनाई केवल धर्म के क्षेत्र की नहीं है वह तो विज्ञान के क्षेत्र में भी विद्यमान है आणविक भौतिकी के जो विद्यार्थी हैं वे जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन या फोटान का वर्तन एक कण पार्टिकल के समान भी है और तरंग वेव के समान भी यह विज्ञान के क्षेत्र का एक बहुत बड़ा विरोधाभास है तो फिर इलेक्ट्रॉन या फोटान है क्या वह कणात्मक है अथवा तरंगात्मक कण या तरंग कोई भी अपने आप में इलेक्ट्रॉन या फोटान की व्याख्या करने में समर्थ नहीं है इसलिए एक नया शब्द गढ़ना पड़ा जो वेभिकल के नाम से परिचित है इसमें वेव और पार्टिकल दोनों शब्दों को मिल मिला दिया गया है यह वैसा ही है जैसे हम कण और तरंग को मिलाकर करंग शब्द बना दें प्रकृति का रहस्य भाषा व्यक्त करने में असमर्थ जब विज्ञान प्रकृति की गहराई में उतरता है और अनुभूति के ऐसे स्तरों पर आता है जहाँ प्रचलित शब्द और व्याख्याएं खड़ी नहीं रह पाती तो जो होता है उसका एक उदाहरण ऊपर दिया गया तीन आयाम वाले संसार का तर्क चतुरायाम वाले विश्व में खंडित हो जाता है अथवा जैसा कि शास्त्र कहते हैं जागृत अवस्था का तर्क स्वप्नावस्था पर लागू नहीं होता आज आणविक क्षेत्र में विज्ञान घटनाओं के अधिक गहरे स्तरों को छूने में समर्थ हुआ है और ये घटनाएं युक्तिपूर्ण भाषा में नहीं रखी जा सकती 19वीं शताब्दी के अंत तक विज्ञान उन सत्यों की बात करता रहा है जो सीमित थे तथा जिनके मुख्य एवं गौण गुणधर्म स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किए जा सकते थे पर आज इस बीसवीं शताब्दी में विज्ञान ने इस सीमितता के दायरे को तोड़ दिया है पहले वह जिस विश्व को निश्चित एवं आकलनशील मानता था आज उसके भीतर घुसकर वह जो कुछ देख रहा है वह सर्वसामान्य अनुभवों अनुभवों से इतना हटा दिखाई दे रहा है कि विज्ञान की सुसंस्कृत भाषा भी ठीक से उसे व्यक्त नहीं कर पा रही है उन्नीसवीं शताब्दी का विज्ञान विश्व की समस्त घटनाओं को गणित के समीकरणों में बांध देने का जो दावा किया करता था वह दावा आज बीसवीं सदी ने खंडित कर दिया है सर जेम्स जिन्स अपने the new background of science नामक ग्रंथ में लिखते हैं the old philosophy ceased to work at the end of the nineteenth century at the twentieth century physicist is hammering out a new philosophy for himself is essence in that he no longer sees nature as something entirely distinct from himself. Sometimes it is what he himself creates a self, selects or obstructs. Sometimes it is what he destroys we can only see nature blurred by the clouds of dust we ourselves make. Thus, the history of physical science in the 20th century is one of a progressive emancipation from the purely human angle of vision. The physics, physicists who can discard the human spectacles and can see clearly in the strange new light. This then assails his eyes, finds himself living in a unfamiliar world, which even his immediate, immediate predecessor would prob probably fail to recognize. पुराने दर्शन ने 19वीं शताब्दी के अंत में काम करना बंद कर दिया और बीसवीं सदी का भौतिक शास्त्री अपने लिए एक नए दर्शन की खोज सवार में लग गए उसका सार यह है कि वह अब प्रकृति को अपने आप से सर्वथा भिन्न नहीं देखता कभी प्रकृति वह है जिसे वह रचता या चुनता है अथवा मूर्त से अलग करता है तो कभी वह है जिसे नष्ट करता है हम केवल उसी प्रकृति को देख सकते हैं जिसे हमारे अपने ही बनाए धूलिकणों के बादलों ने धुंधला कर दिया है इस तरह बीसवीं सदी में भौतिक विज्ञान का इतिहास शुद्ध मानवीय दृष्टिकोण से क्रमिक मुक्ति की एक गाथा है जो भौतिक शास्त्री अपने इस मानवीय चश्मे को निकाल दे सकता है और तब जो नया विचित्र प्रकाश उसकी आंखों पर धावा बोलता है उसमें स्पष्ट रूप से देख ले सकता है वह अपने आप को एक अपरिचित संसार में रहते हुए पाता है ऐसा संसार जिसमें संभवतः उसके तत्काल पूर्ववर्ती भी पहचानने में असफल हो जाए हमारी भी तब ठीक यही दशा होती है जब हम मनुष्य के स्वरूप को जानने के लिए उसके व्यक्तित्व की गहराई में उतरते हैं मनुष्य क्या है क्या हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं जब हम किसी व्यक्ति की परिभाषा करते हैं तो हमें पहले यह बताना पड़ता है कि वह पुरुष है या नारी फिर हम उसकी उम्र उसका वजन उसका रंग उसकी शैक्षणिक योग्यता उसकी गतिविधियाँ, उसकी राष्ट्रीयता आदि का विवरण देते हैं उसके संबंध में जितनी जानकारियाँ मिल सकती हैं हम उन सब के सहारे उसका परिचय दे सकते हैं पर क्या उतने से उस व्यक्ति का पूरा आख्यान हो गया हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ छोड़ रहे हैं उसका जो व्यक्त भाग है उसका विवरण तो प्रस्तुत कर दिया गया पर जो उसका बहुत बड़ा भाग अव्यक्त है उसके व्यक्तित्व की जो गूढ़ता और गहराई है वह तो अछूती ही रह गई एलेक्सिस कैरल की भाषा में ज्ञात मनुष्य मैन द नोन का आख्यान तो हो गया पर जो उसके भीतर का अज्ञात मनुष्य मैन द अननोन है वह परिचय की परिधि में नहीं आ सका